प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं वो कैसा है कहाँ है कैसे मिलता है किसने देखा है ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर पीरदास प्रमाण दे रहे गरीबदास जी कि कबीर साहब मां के पैदा नहीं हुए थे और ना हम गर्भ माए वाई शब्द स्वरूपी रूप हमारा के दिखलावे अचार विचारा बोला ना गीता बदले तीन तलक ला ले शाल्यग्राम की पूजा कर ले नूक ले ये आचार विचार से कर्म कांड है बिरा इन काम नहीं चलता अब क्या कहते हैं अब नो कहता ना मैं कोई पाप नहीं करता तो बंदी छोड़ प्रमाण देते हैं गरीबदास जी सत्र ब्राह्मण की है हत्या जो चौका तुम देवो न्यता ब्राह्मण सेंस हत्या जो ओई जल स्नान करत हो सोई एक हजार ब्राह्मण की हत्या जब तुम नहाते हो उस तीर्थ जल में उसके बराबर पाप आपको होता है चौके कर्मी कीट मर जाई सूक्ष्म जीव जो दर्शन नाही जो चौका तुम देते हो ना उनमें किरमी यानी देख कितनी शुद्ध भाषा यहां पर किरमी वो बहुत बारीक कीड़े कीट भी कह दिया बताओ इसमें कीट कति शुद्ध हिंदी भाई चौक कर्मी किट मर जाई सूक्ष्म जीव जो दर्शे नाही यू दर्शे शुद्ध हिंदी यानी बंदी छोड़ने जाटू भी लोकल भी और शुद्ध हिंदी और संस्कृत सारी भाषाओं में ले लिया तो ये निष्पक्ष निष्पक्ष परमात्मा ये थे अरे भांति पृथ्वी के रंगा अंत कोट जीव उड़े विहंगा पृथ्वी कैसे जीव भी हैं हरे हरे जो दिखते भी नहीं घास कैसे पृथ्वी जैसे भी और घास के रंग में मिले मिले भी हमने कई बार देखा इतना बड़ा कीड़ा वो कूदता है जाकर कति घास मर उसमें कोई अंतर नहीं और पा लागते इतने ऊंचा कूद कर बाहर पड़ा जब देखा तो घास दिखा था यू इतना पूरा राज तो और उससे भी सूक्ष्म जीव है जो घास जैसे भांति पृथ्वी के रंगा अंत कोट जीव उड़े विहंगा तारक मंत्र कोट जपाही वो जीव हंस उतरो नोही बोला तो के ये तारक मंत्र राम कृष्ण राम कृष्ण कर इन तक करोड़ जप ले जाए एक भी जीव हिंसा कट ले क्योंकि तो राम ने बाली मारा था त्रेता युग में और द्वापर में कृष्ण के रूप में आकर बाली का बदला देना पड़ा उस जी मरबण का बालिया और उसने बदला दिया तो तुम इनके नाम तक कर्म कटवाण की इंतजार मत करियो ठीक है सुविधा खूब दे देंगे सुविधा के वर्णन भी आपको हम देंगे जो गरीबदास यानी महिमा गा रखी कृष्ण और ज्या की रामचंद्र ज्या की कि ये गीता जी भी नहीं गा सकती यानी कृष्ण लीला लिखने वाले भी नहीं गा सकते जहां तक क्योंकि तीन लोक में इतनी सुविधा दे देंगे पर जन्म मरण नहीं छुटवा सकते जो असली बीमारी है पृथ्वी ऊपर पग जो धारे करोड़ जीव एक पुल मारे करे आरती संजम सेवा यू अपराध उतरे नहीं देवा ठाकुर घंटा पौन झकोरे कोट जीव सिख सूक्ष्म सिर फोड़े जैसे तुम घंटे बजाओ हो ना और उसके ऊपर उस घंटी का ऊपर डंडा मारो सो उसमें बिरना कितने सूक्ष्म जीव मार देते हो एक बार में कितने जीव इनके ऊपर होते हैं और ये वैज्ञानिक भी प्रमाणित दे है देख बंदी छोड़ छे के छानी था सब कुछ गिन दिया उन्होंने दाना दाना ताल मृदंग और झल्लर बाजे कोट जीव सूक्ष्मता साजे अब देखो कितनी बारिश सुई होती है इंजेक्शन लाने की उसके ऊपर करोड़ों सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि कीटाणु अगर न्यो की नो डॉक्टर ला दे तो बीमार कर दे उसको पहले उसके ऊपर एक सिपरेट फेरी जाती है जो कि उन सूक्ष्म जीवों को खत्म कर दे और वो बंदी छोड़ कहते इन्होंने तो कदे आकर के इन्होंने दूरबीन ला ला के देखी और इन्होंने बिना दूरबीन वो चीज गिना रखी जो कि डॉक्टर कभी जान भी नहीं सकते वो भी बता दी और जहां तक विज्ञान जानती है वो भी गिना दिया ठाकुर लाल ताल मृदंग और झल्लर बाज कोट जीव सूक्ष्मता साजे धूप दीप और अर्पण अंगा अंत कोट जीव जल विहंगा ऐसे खुनी ठाकर थारे को दीदार करे को मारे स्वामी सेवक बूढ़त बेरा मार पड़े जम दर्ग मार पड़े जम दर्ग है जम जेरा नुबला गुरु भी पिटेगा उड़े और चिल्लेगा बकल उतरेगा जो यहां तक सीमित है और फिर क्या बताया ऐसा ज्ञान सुना सुनाऊ पूजा अर्पण सभय छुड़ाऊ और झंडी लंगी करत हमेशा सूक्ष्म जीव होते हैं निशा खान पान में दमन प्राणी हम रोटी खास उसमें भी जीव से दही दूध से दही बनाते हो उसमें भी जीव से दूध से जो दही बनाई जाती है उसमें क्या कितने जीव पैदा होगा जब दही बने से और वह जहर भी हो जाती क्यों होती है कि वो जीव और बढ़ जाते हैं तो महाराज के वो दही खान में पाप नहीं मान दे नो हम पाप ही नहीं करते अब सतगुरु महाराज का प्रमाण फिर नो कहेंगे तम भी तक खाओ सो ये प्रमाण हम सत देंगे कि बंदी छोड़ के नाम व शक्ति है इन पाप कर्मों ने खत्म करती है और पुन प्रफुल्लित होते हैं जैसे कितना घास जाम जा खेत में और एक दवाई डाल दी जाती है वह घास ने फूक दे से पर फसल नष्ट नहीं होती और जब इसके दिल ने इनकी जान नहीं थी वह अपने फसल में खड़ी रहा करता घास और मामूली सा साधन को अपना लिया करते उससे भी पूर्ण लाभ नहीं था तो बंदी छोड़ने के हम जो रास्ता बताओगे वो आपको पूर्ण प्रफुल्लित कर देगा भाई अभी तक तो आप पूर्ण ज्ञानी नहीं हो पाए ज्ञानी जरूर कहा उसको अब झंडी लंगी करत हमेशा झाड़ी <clears throat> जैसे टट्टी पानी जावा जंगल पानी तो उसमें भी जीव मरे से पेशाब करकाते उसमें भी जीव होते हैं और थूक थूकते हैं उसमें भी जीव होते हैं तो फिर नौका मैं को जीवन सा नहीं करता उसके भ्रम न तोड़े हैं भगत जी के ने नौका था मैं को पाप नहीं करता अब जैसे जोड़ मत पानी डाकर गुस्से पाते हैं हमारी बहन गांव में सभी करते हैं और उसमें इतने जीव होते हैं पूछे मत ना बिना गिनती के उन्हें गेर का गुस्सा अपने गोबर में और दे थपड़म दे थपड़म उनका जी काट के और जब छोड़ा और फिर नहीं होगा हम पाप तक में कर दे नहीं ना वो अपनी आत्मा ठीक रखो और किसी का आत्मा ना दुखा और वो मार गिरे लाखों जीव गेर का कूट दिए उसने पाप पे नहीं गिन रहे आप तो बंदी छोड़ गिनवा भाई ये बहुत गुंडा काम से तम इबता था ये भी ना जान दे जो भक्ति करनी चाहिए थी प्रथम तो माता मसणिया नहीं छोड़ दे है हमारा दिया ईमान से इसने कौन छोड़ना उसका कोई वर्क मर जाओ कोई सुख नहीं होता हम अपनी बतावा है जोरड़ जा करते द्वादशी का अब भी मारे वो बाकी मानस है और वहां पर दादा श्याम जी की मान और एक लगातार तीन तबड़ घुमरे आए साल एक अंडी बैल मरिया करता और फिर भी नहीं होगा दादा श्याम जी की जो चलाया यो अड़ी दुआ इसने फिर ऊंटनी मरी एक ऊँ लिया करते को लोमी की आंख पीड़न खातर वो दो एक दिन महीना खातिर लिया करते जब वो मर गई अच्छा फिर भैंस मरी और फिर भी नहीं होगा मान तो वायस हमारी ये पता चल रहा मान ने के सिर पर धरकर चाटा जब तक कोई कुछ तो सुख नहीं हो रहा मान बदलने में कोई आंट नहीं है बंदी छोड़ के करके मान देखो जाके मैं भी खुड़का भी हो जाए क्या आएगा अभी काल एक लड़की आई थी मतलब छोटे लजवाने की उन्होंने पाठ भी करवा रखा नाम भी ले लिया पहले और से नाम ले रही थी किसी और पंथ से मैं नाम नहीं लेना चाहता तेने कहती आए साल एक मैं सी सी मरिया करती तीन बिगड़ ली थी मेरी अरे काल बताओ थी बोले जी वो हालत में आ गई थी और आपने मतलब आप दिखाई दिए और उससे पहले कुछ और उसको दिख रहा स्वप्न का खेत है जैसा भी है अर्नो बोला भी मैंने बोली मेरी टिटवी दाब रहे थे वो पहले डे अर्नो बोले वो आगे हमारे गुरु जी उसी से मैं छोड़ के एक तरफ हो गए वह महस कति मरण में थी ओड़े आगी थी जेर जार भी मतलब कटवाई थी डॉक्टर से नार छोड़ रही थी उसी समय में उठी तो नार खाती पाई और दोनों बच्चा वो सोचते हैं काल बता के गई तो भाव ये से कहने का कि हम उस मान पे हटते नहीं मरा चाहे साबत बा पर महानवाई रहेगी या सबसे गलत बात अपने सतगुरु शरण में आओ बंदी छोड़ की में महाराज के जय सतगुरु की शरणा करते तेरे सकल कर्म कट जाई ये देख सब जीव मारण के सब ये नो तेरे सकल कर्म कट जाई अमरपुरी पर हासन होते जहां धूप ना छाई अमरपुरी कहते हैं सतलोक को वो अमरपुरी कैसे अपने विष्णु लोक न भी पर फिर नो वो तो खत्म भी होगा फिर अमरपुरी कहां रही वो खत्म होगा हाँ इतना भाई उस मास है इतना उम्र से सारे उम्र से तो यहां कहते हैं खान खान पान में दमन प्राणी कैसे पावे मुक्त निशानी कोट जीव जल अचमन प्राणी या मैं शक्ति या मैं संक कछु नहीं जानी कोकस कस रहे अचारम त्रिलोकी का तुम सिर भारम नो कहना मैं स्वच्छ रहता हूं और नीच न दोहरा निवाण जनता नो बोला इसे बूंदे कुकर्म खूनी भी नहीं कर सकता डाकू भी नहीं कर सकता जितना तू रोज खून करता है और नो कह किस भी रह फिर तेरा अचार विचारम अर्थात तेरा ये जो सोचपण कैसे रहेगा बीरा तू तो नो कह सद होगा वजन करो अब आगे कितनी गहरा गहराई जाते बंदी छोड़ रात्रि सूक्ष्म एक अंगा अल्प जीव जुन्नी जत संगा परमात्मा की नजर में कीड़ी तले का हाथी एक सा जीव है उसने सारे की गिनती है कीड़ी मार दी उतना है पाप हाथी मार दो वही पाप राप्ती सूक्ष्म एक ही अंगा जो ना दिखते उनको सूक्ष्म कहे राप्ती कहे हाथी को राप्ती सूक्ष्म एक ही अंगा अल्प जीव जूनी जत्संगा एता जत्संग अभंगा होई अचार कहो अचार सधे कान लोई आत्म आत्म जीव हित जो प्राणी शोका पावे मुक्त निशानी जो जीव मारता है वो कभी मुक्त नहीं हो सकता उर्द पिंग जो झूल देखा जिनका को देना सुलझे लेखा नो कह जो योगी कर, योग करते हैं और नीचे न मतलब पिंग गाल का झूलना से या वैसे साधना करें उनका कदे भी लेखा नहीं सुलझ सकता ऐसा ज्ञान सुनाऊ कौमी धरे न पावे गरीब दास जिंदा कहे धर्म दास उर्भाव के ईसा रास्ता बता दूंगा काम भी करते जा और नाम भी भजेगा और यहाँ बैठ कर अपना भजन करता रहा जब तेन फुर्सत हो जा लेट कर कर बैठ कर कर चलते कर उठत कर नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जाग भी नाम खाते नाम पीते तू नाम से लाग भी एक नाम से मुक्त बताया है मुक्ति है और वो भी पूरे नाम तो नो नहीं वो पांच चार नाम जैसे वो सारे चार पांच सौ छह जो है सारे काल के लग रहे हम ये प्रमाणित आपको करके दिखाया कल भी और आज भी बताओगे थोड़ा बहुत ये नाम मुक्ति के नहीं है जरने बैठ जलाबम धारा शंखों शंखों जीव करे प्रतिहारा पंच अग्नि जो धूप ध्याना जन्म तीसरे शुक्र नहा जो पांच धुने लाक है और तपैसे ने कहा तीसरे जन्म कुत्ता बनेगा वो राम ने सोचा सा कि उसके साथ महात्मा धरती पर निभाई धूप जेठ की और चार धुने ला रहा ऊपर ते सूरज तपे महाराज कहे पंच अग्नि जो पांच धुना में तपता है पंच अग्नि धूप दियाना जन्म तीसरे शुक्र सवाना तप से राज राज मदमानम जन्म तीसरे शुक्र स्वानम ये जितने भी तपस्वी तप करते हैं तीसरे जन्म में कुत्ते और शोर की में जाएंगे ये बंदी छोड़ प्रमाण दे अगले जन्म में राज कोई एसडीएम ला जितना गात फूक रहा होगा कोई एसडीएम लाग जाएगा कोई तहसीलदार ही रह लेगा और कोई डीसी बन जाएगा कमिश्नर हो जाएगा कोई पांच सात साल में मंत्री रह लेगा तीसरे जन्म में कुत्ते की में जाएंगे अगर ईश्वर भक्ति सतनाम की जाप नहीं हुआ तो ये सतगुरु प्रमाण देते हैं जितना तप करे उतना राजा कहलाओगा उतना राजा हो जाएगा निस्वासर निस्वासर धूणी जो फूके ताम जीव असंख्यों सुख है तो वो धूणे जलाओ है ना भगत जी उसमें कितने जीव मरे से वो भी उसने गेल भोगने होंगे <clears throat> तीर्थ बाट चल बदर दंड कर दमकू तोड़ वहां तो जीव मरत हैं करोड़ अब देखिए अब कहते हैं जब हम सांस रोकते हैं इसमें हमारे प्राणायाम होता है शुद्ध ऑक्सीजन भरी जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है जब हम सांस रोक लेते हैं अंदर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एक जगह डट जाती है तो अंदर जीव होते हैं जो करोड़ों जीव मारते हैं जो प्राणायाम करते हैं योगी पुरुष अब योग साधना से जो लाभ होगा वो तो होगा ही होगा फिर उन कर्मों का भी पाप बेटा तुम भोगना पड़ेगा फिर नो कह जी तो योगी नो बैठे रहे कई हजार बरस बंदी छोड़ तो प्रश्न किया वह की पाप करे उनकी बताने लाग रही कहते बज्र दंड दमकू तोड़े सांस रोक अर्ता में जीव मरते हैं करोड़ एक प्राणायाम करोड़ों जीव मार दिया भगत जी और योगी जी दो धूणी फूके ताम जीव असंखो सूके तीर्थ बाट चले जो प्राणी इवनो के तिरड़ी बताऊं तीर्थ बाट चले जो प्राणी सो तो जन्म जन्म उड़ जानी जा तीर्थ पर करते दाना दान देव जीव मन अरबाना कहते वहां दान बांटे ना जब करो कितने गिल गिल बाजे बाजे हांडेंगे मुन्न दियो मुन्न दियो वो उसके कारण कह रहा कयान हुआ मार रहे उनका कारण भी बेटा तुम्हें बनेगा बोले जंद सुनो धर्म जन्म और दानी इस प्रकार हाँ फिर क्या पर, पर भी लेत जात है दुनिया हमरा ना ज्ञान की नो ना सुनिया कहते पर भी लेन जा दुनिया और हमरा ज्ञान किन्हें ना सुनिया एक बार कुंभ का मेला था उस कुंभ के मेले में क्या होता है कि वह सब साधु वहां इकट्ठे हो जाएंगे गंगा के हरिद्वार में नहाने के जहां भी वो प्रत्यक्ष प्रमाणित होता है कि वहां लगेगा एक बार हरिद्वार के अंदर कुंभ का मेला लगा गरीबदास जी प्रमाण देते हैं वो प्रमाण भी है इतिहास में उस कुंभ के मेले में जब स्नान का समय पर भी बोले हैं एक सत्समय होता है इतने वह डेढ़ घड़ी की दो घड़ी की पर भी ओस है ढाई घड़ी की तो उस पर भी मैं जो कह जो स्नान पहले वो करेगा जो स्वस्थ यानी सबसे उत्तम वेग का होगा पंथ का होगा तो वहां पर नागे जो साधु होते हैं वो अपने आप को सबसे श्रेष्ठ कहने लगे कि हम सबसे उत्तम हैं और सर्वप्रथम पर भी में हम स्नान करेंगे अच्छा दूसरे वैष्णव परंपरा के और कहने लगे हम सबसे श्रेष्ठ हैं नाथ परम्पराले कनपाड़ी ने बोले हम हाँ, सब सबसे उत्तम है तो महाराज कहने लग कहते हैं गरीबदास जी उनका रोड़ा हो गया झगड़ा हो जाता है और पहले तो मुक्का मुक्का हो उसकी लटान पकड़ के बिठावस है उसकी ढाडी पकड़ रहा है फिर गुस्सम गुस्सा आखिर में कहें तलवार काट ले पच्चीस हजार वो महात्मा जिसने हम साधु कहा करते कट कर मर जाते गंगा के पानी को लाल कर दिया अब गरीबदास जी महाराज कहते हम उनको साधु कहें कहते हैं जो जन जो जो जन जो व्यक्ति महाराज कहें हर हेत हर हर पैड़ी हर हेत न जाना वाजा करद चलाओ हैं और वाजा करद चलाव हैं जो जन उनके दर्शन जावे उनको भी नरक ले जावे हैं कि हर पैड़ी हर हेत ना जाना वाजा कर्द चलावे हैं और कट शीस नहीं दल करुणा और वह जग में साधु को आवे हैं वो साधु को आया करते और उनके दर्शन करने दुनिया जाया करती थी कट शीस नहीं दल करुणा करुणा कह दया वो तो कसाई है और पहले वो सिद्ध हो रहे थे महात्मा से काटे शीस नहीं दल करुणा जग में साध कमावे हैं जो नर उनके दर्शन जावे उनको भी नरक ले जावे हैं ज्ञानी गुरुआ निकट न जावे मूर्खा न रीज रिजाव यो भी बैदा है बैदे से भेद अलहदा यो भी बैदा ये वैद्य का अंग संबंधी छोड़कर आगे सुनावांगी तो वैसे बीच में आगे इस करके आपको बताना यहाँ कहते हैं पर भी लेत जाते है पर भी लेन जाते है दुनिया अमरा ज्ञान किन्हे ना सुनिया ये शुरू तो मुकदमा बंदी छोड़ गया असली बात में कोई सुनकर जी नहीं और यहाँ कोई चंदे लेके चार अरण्यो लाग जा झाड़ा लान मेरा ख्याल में पंजाब और अमरीक उड़ तो के राजस्थान तो ही के नहीं लाइन लाग जाए दस एक तय कहेंगे मेरा सुख हो गया दस एक वो ना सुखाना क्या ना वो था एका देगा उस वैसे ही कुदरती सूत बैठ गया तनो कह देश लाग जा एक बार इधर हुआ था आ, दादरी की साइड में प्रेम था वो प्रेम सतनाली में सतनाली में वो दो चार पाखंडिया ने नो कर लिया वो छोरा था छोटा सा पांच चार दो तीन साल का नो बोला भाई इसने रेल बंद कर दी वह बीच में उसमें बैठ लिए वह मतलब माल गाड़ी में और उसकी उसमें गाड़ी आवा थी नो बोले वो काल इसने गाड़ी बंद कर दी आसपास के लोग नो बोले बाज देखा हमने बोला आज देख लिए तो छोरे नो बोला तुम वो गाड़ी आज एक बार नो हाथ कर दिया उससे कह क्या था वाड़ा कर नो कर दिया और उन आदमी उसका वहां बैठा था उन्हें चैन खींच दी वह गाड़ी रोकी और सिद्ध हो गया भाई बड़ा देश जुड़ गया मैनू कुशो इतनी दुनिया पंजाब की बस उसमें बंशीलाल मुख्यमंत्री थे उस पर जो है ना स्पेशल वहां टैक्स भी लगा दिया किरा किच किच की दुनिया आने लागी तोड़ पाट दिया और फिर हमने वो एक देखा पर चौथा साल है बौंद अड्डे बखड़ा और वो था हीर और बौंद का एक हीर जो है वो इसका ट्रक ले रखा था उससे हमने कोई काम था उसने बताई जी नो बोला उड़ो था ना सतनाली में वो मेरा भाणजा था माँ भाई सच्ची बता के कहानी थी बोला वो अंडा खांदा कुछ नहीं सूसरा बोला उधर नहीं था कुछ भी ओदा पांच चार भंडारा खेते दुनिया और वे गेल हो इसके तो हम नौ तरह से राजी अरे छोड़ के पर भी लेन जात है दुनिया हमारा ज्ञान किने नहीं सुनिया मारी बात पर असर नहीं करते गोते गोते पढ़ है मारम गंगा जमुना गया केदारम लोह अगर पोगर की आशा अंत कोट जीव होत विनाशा भाई पाती तोड़ चढ़ावे अंधे जिनके कदे न कट हैं फंदे पाते तोड़ कर नो कर शालिग्राम पर चढ़ा दिए या शिवलिंग पर चढ़ा दी नो को उनके कते ना कट हैं फंदे गंगा काशी गया प्रयागा प्रयागा प्रयागो बहोर जाए द्वारका ले दागो पैड़ी हरिद्वार हमेशा ऐसा ज्ञान देत उपदेशा जागरुआ की गर्दन मारम जो जीव भरमाव अचार विचारम बंदी छोड़कर झूठे गुरु के लीतर लावे जो जीव ने आचार विचार इन पाखंडा मुड़ जावे सर जो कर पिंड पिंड पे हुआ बहुत कजाई बदरी बोध सुनो चितलाई सर जो कर असनान हजूम अंत कोट जीव घाली धूमम सरजू स्नान कर लो पेवा जाकर पिंड भरवा दो बदरी बजा कर नहा लो नो कह सब से अभी आपने काल सुना था कि अब आप बतावागे अड़सठ तीर्थ ब्रह्मा था पन, पाप पुन और कर्म और अकर्म यानी इस प्रकार के साथ बताए कि ये ब्रह्मा जी ने रखे ये तीर्थ बनवा दिए और बांध तीर्थ का महात्म और चिन्ह आत्म इस प्रकार की वो वाणी आपको हम सुनाएंगे पिंड प्रधान मुक्ति ना होई भूत जुनी छूटत है लोई एक ने बोला हो क्यों नहीं लिख रखा शास्त्र में क्या कि पिंड बर्दने ते उसकी जूनी भूत की जूनी छूट से और हम बोले जाओ गदा बन जा तो बोला बनो सुसरा फिर वो दुखी करारदा भूत बन के अगर क्या ने पांडा छूटा तो महाराज कहे उसका पिंड बरण तो वो भूत था भूत तो गदा बेसिक बन जाओ पर भूत ना रहो कहो हमने छेद जा से तो छोड़ कहे कि पिंड पे हुआ बहुत पिंड पर धान मुक्ति ना होई भाई भूत जूनी छूटत है लोई मुक्ति नहीं है यार भूत जूनी छूट कर गदे और कुत्ते ही जूनी भोग रहा हो भूत जुनी जा छोटे है पिंड पर धान करंते गरीब दास जिंदा कह भाई नहीं मिले भगवंत परमात्मा नहीं मिला जगन्नाथ के दर्शन जाही काली सला भवन के माही जगन्नाथ जी का दर्शन करने जा उड़े काली बहुत लंबी पत्थर की मूर्ति यानी चंदन की मूर्ति बताया हुआ बनी हुई से तो उसने के मुक्ति हुई भाई वह जगदीश न पावे किस ही जगन्नाथ जो घट घट बसी बंदी छोड़कर उस जगन्नाथ के दर्शन आप अपने भीतर करो जो असली जगन्नाथ है उस मूर्ति के दर्शन तो बात केवल नहीं बढ़ेगी अपने अंतकरण की खोज के ऊपर विशेष ध्यान देते हैं गोमती गोदावरी नाही अड़सठ तीर्थ का फल पाही नहीं जैसे ना सारा का बता दिया बंदी छोड़ निचोड़ नहीं पूजे जिन संत सुजाना जाके मिथ्या सब असनाना नहीं पूजे जिन संत सुजानम जाके मिथ्या सब असनानम के जिसने पूर्ण संत संत संत में वेद से गौ भी अंतर होता है एक तो डोका भी ना दे और ब्यावन दणावे वह भी गौ कवावे संत वह भी हैं जिन द्वारा पल्ल खखनी और संत वो भी गौ वह भी है जो बीस किलो तीस किलो दूध देर तीन बे काटना पड़े तो महाराज के उन संतान से हो भाई जिस तरह काम चले मंदिर छोड़ कहते हैं साध साध सब एक हैं भाई ना का हुकू दोष और डोबी अंदर ले जाएंगे वह साधु सरपोष यानी वो आदरणीय संत है सरपोष मेजपोष है तकतपोष यानी वो मेरे सिर पर दरण दोगे हैं जो हम सतलोक ले जाओगे संत सारे को आवश है पर जो सतलोक का मार्गदर्शन और रास्ता नहीं बताता वो संत थर कति काम नहीं साध साध सब एक हैं आप अपनी ठोड़ पर निज जो निज धाम ले जाओगे वो साधु कोई और तो यहां उन साधुओं की पूजा के लिए कहा नहीं पूजे जिन संत सुजानम जाके मिथ्या सब असनानम कोट यज्ञ असमेघ कराही संत चरण रज नहीं तुलाही शंख करोड़ शंख नील पदम शंख मेघ यज्ञ कर ले और एक ऐसे साधु जो सतलोक का मार्गदर्शन और नाम सही देव है उसके चरणा की धूल के बराबर भी नहीं है अब इस बात ने कौन समझे जैसे कहते हैं ना कि एक लाल इतना उस है और नौ अरब का हो जाए मनमान पर तो नौ करोड़ का तो पहला क्या करते तो गुणा गुणा बढ़ रही उसकी नौ अरब का हो और तूड़े के थे बीस तक हो मनमान बीस हजार के भी ना हो चालीस हजार के हो जाएंगे तो हम दिखावे ना ज्यादा न सोचा यू गुणा इतना बड़ा गणी कीमती होगा और सोने की एक किलो की डड़ी मनमाना पांच चार लाख की हो जाए है हाँ, और पान श्रवण गेहूं ना हो तो जिसकी जो कीमत से वह बता रहा कि संत चरण रज सुन नहीं तुलाही तो संख स्वयं यज्ञ भी एक पूरे संत के चरणा की धूल बराबर नहीं है महाराज के अड़सठ का फल एक है द्वारा संत जमाया ये तरीके बता दिए जैसे भाई आप मजदूरी करके काम करा करते और किसी ने बता दिया बड़ा अफसर बन जाइए कर ले भाई अच्छी ठाट हो जाएंगे रोज की सौ डेढ़ दो तीन सौ चार सौ रुपये मुफ्त में यानी रोज की कमाई से जिसने वह साधन अपना लिया वह तो बिल्कुल ठीक है और जब तक उसने ज्ञान था वह टोकरिए ढूंढ तो पैसे मिलाकर या वे जमींदारे तो धन जुड़े से तो ये तरीके बताओ बंदी छोड़ हाँ, हम बतावा न्यू कर बीरा तेरा सारे काम सर तेरे कमाइए ये परमात्मा की हम बताने लग रहे नो के ना कर ले गंगा मनाए आए तीर्थ घूमे तय व्रत राखण ते तो ये साधन परमात्मा पाण के नहीं है गुआर बो के गीवा की बाट नहीं देखे कीकर वो काम का इंतजार नहीं करे तीर्थ वर्ष जो करे प्राणी तिनकी छूटत है नहीं खानी जिन जाना ने हाँ कहते धूप दीप और जोग जुगनता हाँ, कोट ज्ञान की कथ है संत मच्छा कोट जो को, कोट गऊ जो दान जो दे ही एक पलक संतन पर भी ले ही करोड़ गऊ दान दे और एक पलक जैसे संत पूरे संत के सत्संग में आ जावे वो भी उस करोड़ गऊ से ज्यादा लाभकारी होता है धूप दीप जिन जा, जिन जाना ना पद का भेऊ जाके संत न रहे बटेऊ जिनका संत में मान नहीं रहते वो इस वस्तु को नहीं जान सकते अर्थात जिन्होंने संत नहीं से संतों से नाम नहीं लिया वो पूर्ण लाभ नहीं पा रहे हैं ये प्रमाण सतगुरु महाराज दे रहे तीर्थ व्रत तीर पर जो करे प्राणी जिनकी छूटत है नहीं खानी चौदस नेमी द्वात चौदस नौमी द्वादश व्रतम जिनके से जम किंकर नहीं डरतम के जो चौदस का नौमी का द्वादश द्वादश का एकादशी का व्रत रखे इन तय काल नहीं डरता जिम के दूत नहीं डरे पशु वृंत नहीं बच सकते करें एकादशी संजम सेवा और करें एकादशी संजम सोई करुआ चौथ गधेरी होई कहते हैं जो ग्यास की व्रत है और करवा चौथ का है वो गदी बनेगी अब या कर लिया हो तो तीन सौ साठ बाओ ये बंदी छोड़ कैसे कि जो करवा चौथ की कहानी कहती है वो मुक्त नहीं हो सकती वो यानी पशु जूनी से नहीं बच सकती करें एकादशी संजम सोई करुआ चौथ गधेरी होई आठों सातों करें कंदूरी नीच चूहड़े के घर सूरी जो आठम न सातम न ये करे ना उल्टे काम गरीब आन धर्म जो मन बस कोई करो नर नारे गरीब दास जंदा कह वो जासी यम दवार कह जो करवा चौथ कहानी तास गधेरी निश्चय जानी दुर्गा देवी भू भैरव भूता और जग जगावे जान हुए जो जगावे रात हुई जो पूता जैसे दुर्गा देवी भूत प्रेतों की रात जगा करें डम डम डम डम डम डम ढूंढ ढूंढ करें जा रहे सारी रात क्या उनसे मुक्ति का साधन नहीं वो तो नरक में जाने का रास्ता है करे कढ़ाई लपसी नारी बूढ़े वंश सुधा गरबारी दुर्गा जहान पर तिस बगरम ता संगति बूढ़े सब नगरम अब नो कहे जहां दुर्गा का कीर्तन हो ना उसकी संगत में सारे के सारे डूबेंगे अड़ोस पड़ोसी भी अब यार काली ना मानियो पूर्ण आपको विवरण देकर समझाऊंगा हमने एक जागरण देखा इसमें रोहतक में हुआ था फकीरा के साथ में उसमें वो कीर्तन करनिया भी पी रहा और उसके साजिंदे भी इस लवा जावे और कैंपा कोला मिला इसको देखे उस कूण में गए नोन सीधे काटने तले थे और मिला उसमें कैंपा कोला नोन तो और मार के गोटरान दे फिर मंड जा क्यों सारी रात बंडना उन्हें <laughs> तो वो क्यों कराया जाए काम और वो मारे कैसे टूल में बैठे बैठे अब फिर उनका इतना सुरीली आवाज फिल्मी गायने ये मारी इस बात का कौन सुना उनका आगे और बात कुछ नहीं आखिर में फिर सारे नरक की तरफ गोड़ी तो बंदी छोड़ महाराज कहे इस रास्ते न भाई तुम अच्छी ढंग से पकड़ो अब इसके आगे अगला शब्द बंदी छोड़ का वहां से इतनी बात बताकर बंदी छोड़ अंतर ध्यान हो जाते अब वो रोन लाग गया धर्मदास अगदेतन चाड़ा कर दिया अपनी होशियारी के कारण और इतने महान संत को खो दिया खुन परमात्मा स्वरूप अरे जुलमी तो वो बरसाना भी छोड़ दिया बरसाने में जाना नहीं उचित समझा वापस घर ने चाल पड़ा रोनता हुआ घर ने आके उसकी पत्नी बहुत धार्मिक थी और बहुत दयालु थी सहयोग बहुत दिया करती धर्म में ने बोली जी आप तो कई महीने का प्रोग्राम बना गए थे क्योंकि अड़सठ तीर्थ में छह महीने चाहिए और चालीस हजार रुपये जब अड़सठ तीर्थ हो इंडिया के कुछ किस भारत के उसमें सारे कोने कोने में है और चारों धाम बोला आप तो तोड़े आगे बोलना नहीं गा उस पर <clears throat> भी छक्का रोन लग गया सबकी इतनी कसूती बंदगी उसका क्योंकि वो आत्मदर्शी था उसका बहुत इस बात की चौंठ बनी कि जन्म खो दिया सारी उम्र पापड़ बेले और वो भी कुछ भी ना पाया और जो बताना आया खुद भगवान राज मैंने उसको बेकूफ समझ लिया वह उसने सोचा उसका नाम था धर्मदास की पत्नी का नाम था वो मेरा दिल तो उतर गया चलो वह कहने लगे जी क्यों रो सो मन सच्ची बताओ उन्हें सोचा कि हो सके है बाणिया से पैसे निकल गए उन्हें रोंदा होगा ने बोला जी पैसे अपने तो नहीं बने हमने कमाए थे और और ले जा और पूरा का अपने अनुष्ठान ने बीच में नहीं छोड़ा कर दे डीला मुंह नहीं छोड़ा उठो उन्होंने बोला आमनी नाम था उसका आमनी देवी मैं न्यो नहीं रोनता धन्ना नहीं रोनता तो मैं इसे धन्ना रोन सू तो जिंदगी में नहीं मिल सकता मुझे अके मैं बात तो बता वो सारी कहानी बता दी जितनी सुन रखी थी अवा उससे भी तेज पड़े थी दिमाग में न्यो बोले जी सारे जगह जगह लिख रखा ब्रह्मा भी मरेगा विष्णु भी मरेगा शंकर जी भी मरेंगे और ये महाप्रलय में कुछ नहीं रहेगा माता भी मरेगी ये तो मुन्ने के बताया तो साफ दिखे थी पर हमने नोतना बेरा था इस तो फिर बच्चा को और रास्ता भी सको नो बोला वो बताओ था तो वहां अमनी देवी ने बोली तू बनिया हो कह और सौदा चूक गया नो बोला पहली बार चूक क्या हूं और उससे रो सू आज जिंदगी में पहला सौदा क्या हूं कि मैं आज नो बोला के राम कृष्ण गिल मारी रिश्तेदारी थी कौन से रोज फिटा करते सुनी सुनाई बात तो थी ये तो क्यों ना उनकी बात पकड़ ली जब तिरागत अर्तन जहार हो गया न बोला एक बनी दो बा हो गया न बोला फिर की बात से अब के बताओ भी ना खाया जाता ना पिया जाता ना राम कृष्ण जपया जाता है कई दिन बीत के छह महीने बीत जाते हैं एक दिन फिर सदबुद्धि दी बंदी छोड़ने उनको तो वह आमनी देवी फिर जिक्र करे है अब जी आपका तीसरा हाल हो गया कि आप कदे थोड़े दिन में मर लो ने बोला मरू चाहे जी हूं पर दल तो बात उतरती है नहीं मेरा तन्नो बोले कुछ बात बताई होगी और भाई कैसे मिले हुए कुछ साधन जरूर इशारा कराया कर साधु नो बोला जी नो कहते जब तो कोई धर्म का काम करेगा ना भाई सत्संग करवाएगा या कोई धर्म यज्ञ करेगा धर्म यज्ञ जब मैं आऊंगा नो बोली हो तने छह महीने खो दिए कर धर्म यज्ञ यानी भंडारा शुरू कर दिया पहले दिन को गढ़े आगे को हजारों साधु सबको भोजन दिया भंडारा दिया पर बंदी छोड़ नहीं आए अगले दिन फेर दिया तीसरे दिन जब सबको विदा कर रहा था अर्जुन मन में विचार कर आज दर्शन नहीं दिए बंदी छोड़ कुएं में डांक मार कर मरूंगा अब मेरे पर ना जीण दोगा छोड़ा आपने ना मरण दोगा तो इतना बात कर रहा था पांच सात भगत रह रहे थे संत विदा करने उनको पूजा देकर <clears throat> इतना नो देख नजर जाहा कदम का पेड़ था उसका नीचे बैठी वो ही जो का दो जिंदे के रूप में छोड़ कर उन थुक मुठिया जाकर महाराज के पां पकड़ कर बोला बंदी छोड़ इबकाना छोड़ कर जाइयो रो और बगन कर रहे बोला रहा कोनी छोड़ कर जा तेरे लिए आंसू तू न चालते कर सारा ने न चपट जाएंगे चुगर तो देगा अगर हाथ जोड़ा न कहे बंदी छोड़ इबका ना जाइयो ए महाराज मैंने छोड़ कर नहीं जाऊं भाई जब कह दिया मैं छोड़ कर जाऊं तड़ते आण की क्या आवश्यकता थी मुझे तेरे भरम तोड़ खातिर गया था मैं उन सबको विदा करके वह गए और उनके पकड़ के महाराज के पान बोला ग्रह चालो आंगन में मुझे बाहर हो रहा था उधर भीतर ले गया बोला अमनी देवी थोड़ी सी आजा के हो गया महाराज जी आगे अक ये थे खा हाँ ये थे एक एक पां पकड़ लिया दोनों ने बोला बंदी छोड़ हमने नहीं मालूम था इस बात रास्ते का अगले ही मैं बताऊंगा तो वहां से क्या हुआ इतनी कह कह साहब कबीर अंतर जान ओया जी इतनी कह कह साहब कबीर अंतर हाँ इससे पहले उसने प्रश्न किया था धर्मदास ने कि महाराज जैसे हम धर्म करण से भाई रोज नित पाठ करते हैं भाई जैसे हवन करते हैं ये तो फिर कोई काम नहीं आंदे ना आमस है जैसे खेत में कोई नौका में बांसों गीता पढ़ते हैं या वेद पढ़ते हैं इस तरह अंतकरण साफ हो सा भक्ति करण के काबिल हो जाए इसमें लगन लगे जैसे खेत में बाएं जा बाएं जार बाएं जार बोवा कुछ नहीं तो बीरा कुछ नहीं होगा जैसे आप जो ये कार्य कर रहे हो अड़सठ तीर्थ घूम रहे हो अंतकरण में कसक बना रहे हो ईश्वर के प्रति आपकी लगन बनी हुई है पर नाम नहीं मिल रहा जो सही बीज इसमें बोया था उतना बोया नहीं कहते पाठ आरती धर्म दुआ से खेत समारा जाता है पाठ आरती धर्म दुआ खेत समारा जा सत्य नाम बीज जो बोवे फल भक्ति का पाता है सत्य नाम बीज जो बो फल भक्ति काल जीव को उड़ जाता है दे के अपना ज्ञान भोग तुम्हें अर्ज करूं ज्ञान सुना देव जी बता ओ मेरा कल्याण भगत ज्ञान सुना देव इतनी कह के साहब कबीर अंतरदान जी इतनी कह के साहब अपनी गलती जान धर्म दस फूट फूट को रोया जी अपनी गलती जान फूट फूट कर रोया बोलम जीवन खोया जी आज हो गया सच्चा ज्ञान भगत मैं अर्ज करो ज्ञान सुना देव देवता हो मेरा कल्याण भगत मैं अर्ज करो ज्ञान सुना देव देवता हो मेरा पाखंड पूजा सब ही छोड़ी मन चाया ना तीर्थ नाणे को पाखंड पूजा सब छोड़ी मन चाया ना तीर्थ नाणे वापिस घर ने चाल पड़ा तज वृंदावन बरसाने को वापिस घर ने चाल वृंदा जीवन बरसाने ए बंदी छोड़ तेरे पाने को इब खोजो अपनी जान भक्त मैं अर्ज करूं गान सुना दे जी बता दे हो मेरा कल्याण भगत ज्ञान सुना दे विधि दे मेरा कल्याण रो रो रोदन मचावण लाग्या एक धर्म यज्ञ रचाई जी रो रो रोदन मचावण एक धर्म यज्ञ रचाई दीन दयाल दया के सागर आके सुरत दिखाई जी दीन दयाल दया के सुरत देखा राम पाल मुक्ति जब पाई जब मिले कबीर भगवान भक्त मैं अर्ज करो ज्ञान सुना देव देव हो मेरा कल्याण भगत मैं अर्ज करो ज्ञान सुना दे हो मेरा कल्याण भगत मैं अर्ज करूं सत्साही पाही ये चास लो ट्यूब सर्वसंगत से प्रार्थना है कि सत्संग स्थल पर आ जाए अभी आप सुन रहे थे धर्मदास जी के बारे में अब वही धर्मदास जी जो कि चारों वेदों में गीता भागवत शास्त्रों में कर्मकांड से मुक्ति चाहता था उसी धर्मदास जी को जब यथार्थ जानकारी हुई तो उन्होंने बंदी छोड़ कबीर साहब से पूछा कि हे दीन दयाल हे परवरदिगार मुझे एक संशय और है महाराज कि वह भी बता भाई कि मैंने पहले अपने एक गुरु धारण कर रखा है और जिनका नाम है श्री रूपदास जी तो कहने लगे क्या मैं गुरु परिवर्तित बदल सकता हूं अब बिल्कुल बदल सकते हो एक अध्यापक होता है ताई का सारी उम्र पांचवी आले का पूछड़ का नहीं रहा आदरणीय जरूर हो से अपना आगे नचाला भाई उसने आपको जितना जाना था बेचारे ने ज्ञान दिया और फिर अपने गुरुजी से पूछ ले ये बात अगर आपको वो ये मार्गदर्शन कर दे तक कोई जरूरत नहीं मैंने आपने भी गुरु बदलने की बोला जी यह बात आप सही कहो सो परंतु गुरुजियां दरोवा बात नहीं है अक फिर एक बार जा तो अब सतगुरु की रजा हुई कहने लगा गुरु जी ऐसे ऐसे मैंने बात सुनी है ये सत्य है कि झूठ अब रूपदास जी बहुत समझदार थे ने बोले भाई देख मन ने जो पढ़ा और सुना जिसा गुरुआ ने बताया मन आपने दिया बता बाकी यह जरूर बात है कि भाई परब्रह्म का भी चक्रावस है पर उसकी वर्णन किता नहीं और हम तो इसी को ब्रह्म कोई परब्रह्म कह के अपना पीछा छुटवा लिया हाँ बाकी हमने जानकारी कती नहीं और मैं विष्णु उपासक हूं और विष्णु जी को भी हम ब्रह्म कह से और पार ब्रह्म भी कह जा <clears throat> सर्वशक्तिमान भी कह हर भाई दूसरी तरफ नो भी लिख रहा क्या तीन लोक का भगवान है और यही कबीर साहब ने बताया था भाई कह तो न तीन न लोकताएं के मान लो और कह अनंत करोड़ के मानो एक जबात पर जचो तो वो कहने लगा भाई तीन लोक के ही परमात्मा है क्योंकि इनसे ऊपर माई है और एक ब्रह्म है निरंजा निरं, निराकार वो शक्ति इनसे उत्तम है तो कहने लगा जी मैंने ऐसे ऐसे एक मार्गदर्शक मिला है और वो कहता है कि मेरे को गुरु धारण कर जब मैं आपको सही ज्ञान दू नाम दू वो बोला भाई बेटा बात सुन गए मन ने के तेरा भाई महेश्वरवाणी है और के एक नड़वाना है भाई तेरा काम बनता दिखे ना बेस्ट काम बनवा ले कोई आंट नहीं मेरी औरत है बाकी देख मैं तो मानू नहीं उन बातों ने क्योंकि मेरी तो उम्र चाली भाई इतना इशारा लेकर के आ गया वैसे कबीर साहब कहते हैं कि कोई जरूरी नहीं होता जब मार्गदर्शन से ही मिल जाए तो उस गुरु से भी आदर जरूर करो उनका लेकिन अपनी असली उद्देश्य को पूरा करने के लिए कोई भी लोक या मर्यादा बंदर मन ही बंद है तो धर्मदास जिया ने फिर बंदी छोड़ कबीर साहब से पुनर्उपदेश लेकर अपना आत्म कल्याण किया अब वही धर्मदास जी उसी बात पर अरुण होकर के बंदी छोड़ने उनको कहते हैं बयालीस वंशताएं की गद्दी दे रखी है कि जो तेरे अनुयायियों से उपदेश लेगा वो भी मुक्ति का अधिकारी होगा <clears throat> अगर वो इस मर्यादा में रहकर नाम जाप करेंगे और बताओगे <clears throat> तो उसी धर्मदास का आज बहुत बड़ा पंथ चला हुआ है और बहुत से उपदेशी उनके हैं तो ये से कहने का जब यथार्थ ज्ञान हो जाएगा अब जैसे हमने लाल और लालड़ी का पहचान आपको बताई थी कि उस सेठ ने अपने भतीजा ताई करवा दी थी फिर उन्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि लाल कौन सा लालड़ी कौन सी तो हम जो ज्ञान दे रहे हैं बंदी छोड़कर तो आपको अपने आप पता लग जाएगा लाल केसर लालड़ी क्या से परमात्मा पूर्ण कौन से और ये कौन मतलब अपूर्ण कौन से लेकिन ये भी नहीं कहा कि ये परमात्मा नहीं जैसे डीसी में शक्ति जितनी हो होश है एसडीएम में भी पावर जितनी है वह यथाउचित से जो की तू है परंतु उसको तुम तो न को यू प्रधानमंत्री से तो कति मानने की जरूरत नहीं तो ये सतगुरु का केवल यही रास्ता इरादा है और इस बताने का उद्देश्य भी यही है बंदी छोड़ का कि सत्य मार्गदर्शन करे करें भाई पांच के नोट में को पांच सौ का कह कहें जाओ भाई के कहने तो बात बन जाएगी नहीं बन सकती फिर पिस्ता होगा इसी प्रकार सतगुरु महाराज ने बताया अब वैद्य का अंग हम आपको सुनाते हैं वैदा कहते हैं जो व्यर्थ जो क्या आकरण है भाई गणा वैदा ना बोला भाई आवश्यक बात करो यानी ये अनावश्यक बातें हैं वैदा कहें अनावश्यक जिसकी आवश्यकता ना हो और वो उखा खा अपना जन्म बर्बाद कर रहे हो समय बर्बाद कर रहे हो तो जो साधनाएं हम जिस भी विधि से कर रहे हैं उनको सतगुरु महाराज बताते हैं कि ये ठीक नहीं भाई बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की अमृतमय वाणी के ग्रंथ साहब से पृष्ठ पांच सौ चौतीस अठसठ दर्शन घबोड़ घमोड़ बैदा वैदे के दो हैं एक तो वैदे का ग्रंथ और एक सठ दर्शन गमोड़ वैदा सठ दर्शन दर्शनी महात्मा कहते हैं जो दस नामी होते हैं और जिसके अंदर नाथ तपस्वी और कनपाड़े घोरी ये सब आ जाते हैं इनको सठ दर्शन कहते हैं सट दर्शन सट भेख कहाव ये छह प्रकार के पंथ हैं सट दर्शनी बोले उन सट दर्शन सब सट भेष कहावे बहुविध धूंधू धार मचावे तीर्थ व्रत करें तर बीता वेद पुराण पढ़त हैं गीता यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा यो भी बैदा चार संप्रदा बावन दवारे जिनो नहीं निज नाम बेचारे माला गाल हुए हैं मुक्ता सट दल उवा बाई बक्ता बंदी छोड़ के कि सट दर्शन सट भेष कहा सट कहे छह संस्कृत का अक्षर है सट छ सट दर्शन सट भेख कहा मैं बहुविध धूं धूं धार मचाव मतलब इतने दिखा देंगे लोग दिखावा तप कर लेंगे खड़े होकर बैठकर माला गाल लेंगे कान पड़वा लेंगे गीता के ज्ञान का जो धारा प्रवाहिक बहुत मीठे मीठे प्रवचनों से श्लोक सुना सुना कर ज्ञान देंगे बंदी छोड़ने के बात बनाई जग ठगया मन पर मोद्या ना कबीर स्वार्थ ले गया लख चौरासी मां गरीबदास जी महाराज कहते हैं बीजक की बाता कहें बीजक नाही हाथ ये पृथ्वी डोबण उत्तर रे भाई कह कह मीठी बात कहते चार संप्रदा और बावन द्वारे बहुत बड़े सिद्ध हुए हैं रामानंद जी योगी उन्होंने चार संप्रदा और बावन उनके अलग से द्वार होते हैं स्थापना शिष्य बना दिए जाते हैं कहते जिन्होंने ही निज नाम बेचारे निज नाम हर इष्ट का हर देव का निज नाम है विष्णु जी का भी सतनाम निज नाम है शंकर भगवान का भी निज नाम है और ब्रह्मा जी का भी निज नाम है माता जी का भी गणेश जियों का भी और निरंजन जी का भी ये निज नाम है ये निज नाम पर विचार भी नहीं करते अर्थात उसका जाप साधना नहीं करते तो उनकी पूर्ण लाभ वो इस इष्ट का भी नहीं ले रहे जिसकी वो उपासना कर रहे हैं और कहते हैं चार संप्रदा बावन द्वारे जिनों नहीं निज नाम बेचारे माड़ा घाल हुए हैं मुक्ता ये सठ दर्शन उवा बाई बक्ता अब उवा बाई या सह के एक पुराण कुछ कहे दूसरा पुराण कुछ कहे तीसरा पुराण कुछ कहे और फिर उसके पढ़ने वाले अपनी औरतें न्यारी घड़ घड़ सुनावा तो कह सट दल उबाई बक्ता नुकारा क्यों बाई बक्ता हंडा जिसका मुंह न पूछ शर न पा उसको कहते ऊआ बाई यो भी बैदा है यो बैदे से भेद अलहदा यो भी बैदा भाई बैरागी बैराग न जाने बिन सतगुरु नहीं चोट निशान बारे बाट बेटम बलोरी सट दर्शन में भक्ति ठगोरी ये सठ दर्शनी जितने संत हैं साधु हैं इनमें भक्ति ठगोरी यानी ठगनाड़ी से मुक्ति की नहीं से अब इस कड़वी सत ने सुनकर कोई एकाधि खुश होगा और भाई सत तो सत रहा करे कोई खुश हो चाहे ना खुश हो यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा यो भी बैदा सन्यासी दस नाम कहावे शिव शिव कर संशय जावे निर्वाणी निकथ निसारा भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा सन्यासी दस नामी महात्मा उनके नाम सुनियो वो के जप्या करें वह दस नाम से को तेनो कह भाई अपना सत्संग क्रिया करो भाई ठीक विचारते तो रहो परमात्मा सत्य है इस तरह के दस नाम से और कोई सा भी किसी शास्त्र में नो लेकिन तो मुक्ति होया करे तो सन्यासी दस नाम कहा शिव शिव करे न संशय जावे शंकर भगवान के उपासक है शिव शिव जरूर करें पर उन असलियत में नो नहीं बेरा अभी लिख रखा शिव प्राण में कि शिव जी तो शंकर उत्पन्न हुआ शिव ते ये बताओ शिव के रहेगा जिस तो शंकर उत्पन्न हुआ <laughs> इस बात ने कौन समझावे शिव नाम वैसे शक्ति का उस है और शक्ति सब में से भाई लक्ष्मी माता में भी शक्ति है विष्णु भगवान में भी शिव है और सब में शिव है जितनी जिसकी व्योंस है तो यहां महाराज कहें ये इसमें खोल नहीं पाए इस वस्तु को कि किस तरह उत्पन्न हुआ फिर वहां कहते हैं कि विष्णु भगवान तय शिव उत्पन्न हुआ और ब्रह्मा हुआ ब्रह्म जो ब्रह्मा जी को परमात्मा मानते हुए कहते ब्रह्मा जी से सब कुछ हुआ जैसे ब्रह्म कुमारी आपके यहाँ आश्रम बना हुआ है इसमें हम गए थे और आप भी देख आइयो वह कहते ब्रह्मा से उत्पत्ति सारी सृष्टि की हुई है सबसे पहले ब्रह्मा हुआ उसने फिर आगे सृष्टि रची है बंदी छोड़ भी कहें ब्रह्मा ने ही ये सृष्टि यानी ये तीन लोग के अंदर जो जितने जीव प्राणी है उससे रचे हुए पर वो वाह बादशाह दे हाथी के भाई पाको पान भगवान का हाथी कह को सूंड ने यथार्थ ज्ञान के बिना सुन सन्यासी निर्वाणी नी कच्छ निसारा भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा कि ये भी मतलब विष्णु भगवान शंकर भगवान तय ही अपनी सीमित हुए उस ब्रह्म तक भी नहीं पहुंचते निरंजन तक भी नहीं जाते यानी कुछ और लाभ फालतू मिल जाए सुन सन्यासी कुलक्रम नासी भग में प्योंदी भूले धोंदी यो भी बैदा है बैदे से वेद अलहदा यो भी बैदा कहते हैं सुन सन्यासी कुल नासी और भग में प्योंदी या प्योंद से डाली भग में कपड़े पैर लिए ऊपर का और भूले धोंदी अवस्तु को नहीं ज्ञान इन्होंने बस अपना सांग सांग कर लिया ऊपर स्वांग धार लिया और वस्तु कुछ है नहीं भरम करो भैरो को पूजे सत शब्द साहेब नहीं सूझे माला मुक्ति कक्कड़ हुक्टी ही बाणा बौड़ी गोडी भांग बसोड़ी आप देखोगे दूणों पर सुल्फे न्यारे बांग के गोटे लगते हैं पिए पड़े रहने मस्त अलमस्त हम तो कई गांव तो रोंदे पावे न्यो के मारे बालक भी बिगाड़ दिए न खागड़ा ने सुल्फे पैण और सिखा दिए घर तो चोरी करे है भी इनकी आदत बिगड़ दी फिर डाक के डारन लाग जाएंगे और उनके महाराज के उनके दर्शन भी जो जाता उनको भी नरक ले जाते हैं और हम उनको संत मान बैठे पर भाई वाह बात से साची कंधे सी आंख मांगड़ी दोनों दे दी साची सुनकर राजी को एक आधा पाओगा जिसका सही ठिकाना दिमाग होगा जत जलाले जति जलाली पद बिन खाली ना आया कहते ना कर्म भरम भैरो को पूजे कर्म कांड करें माता मसाणी भूत इनको पूज लेंगे और सत शब्द साहेब नहीं सूझे सत शब्द सत नाम सच्चा नाम जाप नहीं करते और पूर्ण परमात्मा की बारे में जानकारी नहीं लेते जति जलाली पद बिन खाली नाम न घोरी घत्ता यो भी बैदा है से वेद अलहदा यो भी बैदा जति जलाली और पद बिन खाली ये कि पंथ होता है कि मैं तब तो जमाकती अपना ब्रह्मचारी सो रहसे हो महाराज कहें ठीक से ब्रह्मचारी गए और नाम ना जपे तो गधा बनेगा कि सारा लगे ब्रह्मचारी बनेगा गरीबदास जी महाराज कहते हैं डेरे है खुश रहो डेरा कह अपने घर न और खुश रे लय ना मोक्ष ये जो हिजड़े होते हैं बचपन से ब्रह्मचारी हों से पता कौन सा मुक्त हो जाएगा और भाई दरू पर लाद पार हो गए फिर डेरे में के दोष दरू जी घर में रहे द, एक दस हजार वर्ष यहां राज किया उसके औलाद हुई ब्याह करवाया राम पाए पाछे यानी विष्णु जी के दर्शन हुए पाछे प्रहलाद ने दस साल के हो गया था ईश्वर दर्शन विष्णु जी के और फिर ब्याह करवाया और बालक हुए और स्वर्ग में गया बंदी छोड़ने के हैं तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ये ब्याह रखे और इनके पत्नी रही और इन पाण खातिर तम लंगोट बांध के बण में बैठो अपना सत डंगते रहो जिस प्रकार वो रहे जिस प्रकार भाई ब्रह्मा जी भी विष्णु जी भी शंकर भगवान से तुम अपना आचरण ठीक रखो बच्चे पैदा करो और उनको अच्छी शिक्षा दो और परमात्मा पाण की यानी पूर्ण विधि उनको पूरे गुरु से नाम दुआओ तो यहां कहते हैं प्रहलाद का जो पोता था प्रहलाद का लड़का बैलोचन हुआ बैलोचन के राजा बली हुए जिसने अश्वमेघ यज्ञ करी थी जिसमें भगवान विष्णु ने बावना रूप धरकर उसको छड़ा था तो इस प्रकार कहते हैं धरू पर लाद उधर गए फिर इस घर में के दोष भाई पर नाम सही हो विधि सही हो भक्ति ठीक हो पार हो जाओगे प्रमाण दे रहे मैं जमींदार होते हुए गरीबदास जी ने कहा राम पार हो गए रह की आठ पीरा पर तुम विश्वास नहीं करते मारा पर तुम राजी उड़ा हो तो थोड़ा धूने लानिया बैठा हो है और भाई अच्छे जानते दो सुनावा गाड़ एक ने बोला साधु था औरतान दोरा नहीं आने दिंदा ने कहा मर ढेडनी परे ने और उसने वाह वह वा साधु के जब औरता थी इतना डर है तो उसमें कमजोरी से जिसने आत्म दृश्य लिया तो इस मरीन में कोई अंतर नहीं है हमने एक सांग देखा बचपन में सांग देखा करते तो एक लड़का सुथरा जवान बच बालक सा अपनी रखा रहा ऊपर बाल से लड़की की तरिया और लड़की का रोल करे वो अच्छा उसमें दो जने लड़न लाग रहे एक नो बोला देख कितनी सुथरी छोरी और नो बोला छोरा से निर्भाग्यो बोला रहन दे छोरी से तो उसके पेटा भरण खातिर वो अगले दिन उसको साथ ले गया जब उन उन जहां रुके हुए थे चौपाड़सी में उन कपड़े तारे अपने कपड़े बदले फिर उनकी गेला वो लड़का जंगल पानी उनका नो बोला रहा साचे मैं तो इसने छोरी है समझ रहा था अगले दिन फिर उस लड़के ने लड़की का रोल करा पर वो देखनी आ उसने नो का ससुरा छोरा से थे यानी उसमें भाव नहीं बना लड़की वाला जिस प्रकार पहले टूला था वो फिर उसमें भाव नहीं इसी प्रकार जिसने आत्म तत्व दर्श गया महाराज गरीबदास जी कहते हैं एक बीज पिंड ब्रह्मंड में कोई पुरुषा कोई नारी है कोई अंतर नहीं इसमें कि ये वही आत्मा एक है इस काल ने दो चोले पड़ा रखे इस ताई सब संत ने कहा चोला बदल लिया तो एक स्त्री का पैर रहा से एक पुरुष का कपड़ा पैर रहा है अंत तो <clears throat> उसमें जो जाएंगे ना अंत इसमें गहराई के अंदर तो फिर कुछ भी नहीं है और जिसने इतना ज्ञान नहीं है इतना उसका निर्भय नहीं हो चुका है तो वो घबरावस औरतां से रोटी औरतां की पोई हुई खावा <clears throat> कपड़े औरत दो है है सारा काम का बर्तन हुआ मांझे पर नजदीक आ जाता खा जाएंगी अपनी चौकसी यानी अपने करने साथ साबित है कि कोई दिक्कत नहीं बिरा तो हम कहां तक बंदी छोड़ के कड़े तय बुद्धि ठावा इन इंसाना की एक जगह थोड़ा सौ जगह कूट रखी इनकी बुद्धि अगना न्यो तो होना नहीं चाहिए तो बात सतगुरु की जो जब समझ में आ जाएगी फिर कति आदमी निर्भय हो जाता है तो यहां कहा जति जलाली पद में खाली नाम ना रट्या नाम तो जप्या नहीं पाखंडा मर गया गोरी गत्ता गोरी साधु उसने कहे हैं जो शमशाना पर पड़ा रहे और भाई भांग पी रहा वाची सरड फुरड नहावन दो है हाँ, टट्टी में हाथ मारेगा क्यों नशा में पास किता हाथ लागे उसके अरे को साधु कसूता गोरी साधु है भाई तो क्या है तो नहीं घबरा दारू पी पास तो कौन घबरा है उन्होंने कहते हाथी के राजा के हाथी ने भी नहीं बोला काटड़ी ने बेचा भाई <laughs> बता भाई उन वो भी निर्भय हो जाता फिर तो भी गोरी साधु था <clears throat> और जब वो नो बोला भाई तड़के बेचूंगा तड़के लाए पकड़ गया सुबह नो बोला भाई के लेगा के देगा इस काट देंगे नो बोला जी तो व्यापारी है कौन रहे यानी तो सौदा है कौन रहा जो काटड़े ले लिया था यानी वो जो तो नशा था मेरा वो उतर चुका है तो यहां पर हम है पता नहीं क्या न किए बना बैठे मडी बसंता ओडे कंथा और बनफड़ खावे नगर न जावे यो भी वैदा है वैदे से वेद अलहदा यो भी वैदा मढ़ी बसंता घर ने छोड़ के अरे का आश्रम बना लिया उसमें सारी चीज चाहिए भाई पंखे भी कूलर भी रोटी भी कटोरी भी गिलास भी सारा सौदा तो युग आश्रम ओ भी है और आश्रम ओ भी है जहां वो भगत जी घर छोड़कर जा बैठे तो बंदी छोड़ के हैं और फिर वो भी से है जो कति जाकर गुफा बना ली उड़ा दुफड़ी गाली ओ भी आश्रम है बड़े छोटे का फर्क से कर्म सारे होंगे वहां पर रोटी भी चाहिएगी चटनी भी चाहिएगी आटा भी चाहिएगा सारा सौदा बनाना पड़ा फिर कहते हैं इसे भी कति अपने आप में जो साधु को वहां से कि बण चले जा और फूल पत्ते और फल खाते हैं नौका हम उसके से तो फिर साधु है नहीं समझते गरीबदास जी कहते हैं गरीब पून केले की को पीने है केले के पत्तियां का लंगोट बांध लेंगे सारा शरीर उगाड़ा गरीब केले की को पीने है फूल पान फल खाही नरका मुख नहीं देखते भाई बस्ती निकट ना जाही